और अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो जैसा कि उसके रास्ते में जिहाद करने का हक है उसने तुम्हें चुन लिया है और उसने दीन में तुम पर तंगी नहीं रखी तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत है उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है इससे पहले भी और इस कुरान में भी ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाएं और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ सो नमाज कायम करो और जक़ात अदा करो और अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से पकड़ लो वही तुम्हारा मालिक है सो क्या ही अच्छा वो मालिक है और अच्छा मददगार है